श्री गुरु की भांति समुझाई उन त्रिजता निज भवन सिधाई राम स्वभाव सुमेरी वै दे उपजी विरह विधायति ते

राम विरय जान की दुखारी जब यसी भयऊ विरय उदाहू हरे के बाम नयन रुबाहू सुन विचार धरी मन धीरा हम मिली हैं कृपाल रघुवीरा यार्दन रामन जागा निज सारथ सन की जन लागा पथरण भूमि क्षणाय सिमोही धिग धिगय धम मंदमति तोही पद गई बहु विधि समुझापा और भैरत चढ़े पुनियावा पुण्यागमन दसानन केरा कपिधल खर भर भय घनेरा जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी तारे कट कटाए भट भारी धाये जुमर कट बिकट भालू कराल कर बूलर धरा कोप करही पहार मारत भज चले

तट पे जन मार नखिन बिदार तनु व्याकुल कियो देखी महामर कट प्रबल रावण कीन विचार अंतर अंतरित हुई निमिष महू

छठवें दिन का युद्ध समाप्त हुआ रावण बेहोशी की अवस्था में भवन में ले जाया गया उसी रात्रि में सीता जी के पास जाकर त्रिता ने युद्ध का वर्णन किया सीता जी को मालूम हुआ युद्ध किस प्रकार चल रहा है और रावण के न मरने की सूचना पा करके सीता जी को व्याकुलता बहुत हुई त्रिता ने समझाया कि रावण मरेगा मर नहीं रहा अभी लेकिन मरेगा रावण कोई तो बना ही थोड़ा रहेगा उसका भी विनाश होगा <clears throat> समझा करके क्रेता चली गई कहते हैं अस कही बहु बहुत भांत समझाई इस प्रकार से क्रेता ने बहुत तरह से समझाया बहुत भगवान की भी शक्ति का भी वर्णन किया और भगवान के स्वभाव का भी वर्णन किया हाँ, <clears throat> कि शक्ति एक बात है स्वभाव बात दूसरी है व्यक्ति अपने जय शक्ति होते हुए भी स्वभाव के अनुसार आचरण करता है तो भगवान जो है वो सभी की तरफ उनका ध्यान रहता है सीता जी खुद को तो उनको लाना ही है रावण को भी मारना है देवताओं को भी निर्भय करना है पत्नी का भी उद्धार करना है ब्राह्मणों की भी रक्षा करना है सभी तरफ भगवान का ध्यान है लेकिन भगवान जो है वो अपने ढंग से कार्य करते हैं तो रावण के साथ उनका युद्ध चल रहा है मानवीय लीला की तरह से और वो ऐसे करके त्रिता ने समझा दिया सीता जी को और फिर पुनः त्रिता ने जब भवन सुधाई रात बहुत हो गई तो त्रिता फिर अपने घर चली गई अब सीता जी रात में अकेली रह गई अब रात में सीता जी को जो है वो ये सब सुन सुना करके रात में कैसी जाकुलता रहती है कैसी दुखी रहती है उसका भी संक्षेप में वर्णन कर दिया कि राम स्वभाव सुमेर वैदे ही सीता जी भगवान के राम के स्वभाव का स्मरण करती हैं उपजीव रहिता पिते ही हाँ, तो उसको सीता जी को तो जो है भगवान श्री राम जी के विरय व्यथा के भगवान राम कितनी देर लगा रहे हैं कब रावण को मारेंगे कब प्राप्त होंगे इस प्रकार की चिंता में लगे निसिंह निसिंह ससिंह निंदत भांति सीता जी रात्रि की और चंद्रमा की दोनों की निंदा करते हैं कि रात्रि ये भी बहुत मुश्किल में कट रही है इसलिए कहती हैं कि जुग सम भई सिरात नवाती रात न रात मन रात्रि समाप्त नहीं होती और युग के समान हो रही दुख की अवस्था में काल जो है बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है थोड़ा सा समय भी बहुत बड़ा दिखाई देता है युग समान के तो मैंने बहुत देर में रात करती दिखाई देती है तो तुरंत बिलाप मन मन भारी सीता जी अपने मनी मन में इस प्रकार से बिलाप करें अब और कोई तो है नहीं अकेली बची हुई है इसलिए राम विरह जाने की दुखारी सीता जी जो है भगवान श्री राम जी के विरह में उनके कारण से बहुत दुखित है अब जी को बार बार ये है कि भगवान राम प्राप्त हो राम जल्दी मिले भगवान जल्दी प्राप्त हो नंदा में आ गए हैं तो भी नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं ये सीता जी को बहुत दुख इस प्रकार का लग रहा है तो सीता जी का इस प्रकार से चिंतित होना दुखी होना ये भी भगवान श्री राम जी को उत्साहित करने के कारण है आंतरिक भाव से हृदय में फिर भगवान राम जो रावण को जल्दी मारे हैं इस प्रकार की प्रेरणा भी भगवान को मिलती है जब रहती भय बिरह और बाहू सीता जी को जब बहुत दुख हुआ बिरह दुख तब क्या हुआ कि फरके बाम नैन और बाहू तब उनके बाया नेत्र और बाया बाह फरकने लगे बाया नेत्र फरकने अब ये उसकी उसका सगुन विचार करके देखो तो बाया नेत्र फरकने की क्या सूचना है बाया अंग बाया बाह फरकने की क्या सूचना है तो कहती है वो कि सगुन विचार धरी मन धीरा तो कहा कि तो सगुन है असगुन नहीं है सगुन है कि माने का कार्य सिद्ध होगा भगवान श्री राम जी अब जल्दी ही रावण को मारेंगे और भगवान राम के दर्शन प्राप्त होंगे उनका सानिध्य प्राप्त होगा ये सीता जी को जो है सगुन की सूचना की लगा तो धीर तो सीता जी को धीरा गया और मेरी यही कृपाल रघुवीरा सीता जी को लगा कि अब भगवान राम जी जाएंगे अब देर नहीं लगेगी अब जल्दी ही रावण मरने वाला है ऐसा सीता जी ने निश्चय कर लिया अब इधर क्या होता है रावण जो रात में पहुंचा था अपने घर ले जाया गया था उसकी रावण की कथा सुनाते हैं कहते यहाँ अर्धनिश रावण जागा माने रावण संध्या काल में जो बेहोश हुआ था तो आधी रात में जाकर तो होश आया मैंने इतनी देर तक वो बेहोश आया मैंने बहुत मार पड़ी उसके और बहुत व्याकुलता उसको हो गई इसलिए जल्दी होश उसको नहीं आया और निज सारथन की जन लागा जब उसे होश आया तो अपने साथी वगैरह सब साथी लोग से घेरे खड़े थे उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे तो अपने सारथी को बहुत ज्यादा उसने खींचने लगा तो मैंने नाराज हुआ उसे <clears throat> अब क्या क्या नाराज हुआ कि सठ रणभूमि में छड़ाए सम्मोही उससे ये नाराज हुआ कि रे सठ तो मुझे रणभूम से रणभूम छोड़ा दी मन को तो वहां से रणभूम से मुझे यहाँ क्यों ले आए ब्राह्मण हाँ, को भी पता नहीं तो संध्याकाल हो गया तो वैसे ही तो समाप्त हो गया था और दोषी अवस्था में तो चल, चल, चलता कैसे अब कैसे ये सब से मालूम नहीं था तो उसे तो ये लगा कि अभी अभी हम बेहोश थे और अभी अभी हम होश आए और अभी ये हमको घर यहाँ पर ले आए राजभवन में लो शाम को युद्ध बंद होते समय छह बजे हाँ? और उसी समय लेकर के ये रावण को जब वहां घर ले गए रावण को तो बारह बजे रात में होश में आया लेकिन जब उसे होश में आया तब उसे थोड़ा पता लगता है कि छह घंटे बीत गए उससे तो लगता कि अभी अभी हम बेहोश हुए हैं और अभी अभी ये हमको घर ले आए हैं अब ये कर लगता तो हमें रणभूम से युद्धभूम से क्यों तुमने हमें कौन लेकर के यहाँ से लेकर डाल दिया करके हम्म। देखे देखे अधम मती तो ही तो रावण उनको धिकारने लगा कार्ती को कहा कि तुम अधम हो मंदमती हो अधम क्या हो ये कहा कि देखो हमारे जैसा जो तीनों लोगों का स्वामी है उसके तुम सारथी हो करके तो हमारी महिमा को नहीं जानते हमारी महिमा के अनुसार तुमको आचरण करना चाहिए तुम्हारे में भी कुछ जो है वो हो जैसे हमारे में मातृ बुद्धि है ऐसी मातृ बुद्धि कुछ तुमने भी हो कि हम एक रावण के सारथी हैं और वैसी ही वीरता तुम्हें होनी चाहिए ये क्या नहीं जैसे कि कार लोगों की जैसे तुम सारथी बने घूमते हो ऐसे सारथी नहीं इसलिए तुम अधम सारथी हो और दूसरे ये है कि मन नमती हो बुद्धि भी तुम्हारी कम है अगर बुद्धि तुम्हारी हो तो तुम्हें वही उपचार करना चाहिए तो वही प्रतीक्षा करनी चाहिए तो युद्ध क्षेत्र में तुम यहाँ लेकर के मत आते हमको तो इस प्रकार उन्होंने उसको धिकारा एक प्रकार उसको क्रोध होकर के उसके ऊपर जो है क्रोध दिखाया रावण ने अपने सारथी को सूत को इस प्रकार से बार बार कहा तो वो सारथी घर गया रावण के इस प्रकार डांट टपक सुन करके क्रोध सुन करके तो सारथी ने क्या किया कि तेई पद गई सारथी ने रावण की जल्दी से पैर पकड़ लिए हम्म? जब कर लिए तब रावण चिल्ला रहा था तो थोड़ा चुप हुआ हाँ? जब चुप हुआ तब तो सारथी ने फिर बहुविध समझावा तो सारथी पर समझाने लगा रावण को समझाने लगा ये कि देखो आप जब बेहोश हुए तो छह बजे थे बारह बजे छह घंटे तो कहाँ तक आपको युद्ध के क्षेत्र में भरे होते वहां और वहां सब चले गए तो समझा काल हो गए तो आपको तो हमें लिया नहीं पड़ा तो कहा मन काम है हाँ? इसमें आतंका की क्या बात है अगर सवेरे युद्ध हो रहा होता तो हम प्रतीक्षा भी करते रहते युद्ध क्षेत्र में कि भाई अब दोपहर तक होश आ जाएगा शाम तक होश आ जाएगा अब संध्या काल में जब युद्ध समाप्त हो गया सब बेहोशी आई तो कहाँ वहाँ युद्ध क्षेत्र में रखे रहने से क्या फायदा था ऐसे करके फिर अपने उस सारथी ने रावण को कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है और इसमें भी आपकी कोई कायरता की बात नहीं युद्ध छोटे सायकाल से तो वैसे बंद हो जाता है और सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि युद्ध भूमि छोड़ करके तो आप चले आए हो ऐसा भी कुछ बात नहीं है आप बड़ी वीरता से लड़े और वीर है ही है आपको भला कौन पराजित कर सकता है फिर युद्ध कल होगा हम्म? ऐसे करके जब साथी ने समझा दिया उसको बहुत रावण को तो रावण थोड़ा संतुष्ट हुआ शांत हुआ और फिर तो रावण थोड़ी देर सोया सोया आराम आराम किया उसने और उसके जो घावा तमाम हो गए थे तमाम परेशान था सब मल्लम पट्टी की और रात में ठीक ठाक होकर के सवेरे तक तैयार होकर के युद्ध की भूमि के लिए फिर चल दिया भोर भय रथ चढ़ घावा सवेरा होते ही फिर अपने रथ के ऊपर बैठा और युद्ध क्षेत्र की तरफ गड़ उसका रथ चल दिया और युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया फिर और उसके साथ में कुछ बच्चे बचाए जो सैनिक थे सेनापत थे निशाचर थे उनको भी साथ उसके सब लिए और वो सब युद्ध भूमि में पहुंच गए अब उसकी सेना बहुत थोड़ी रहेगी न के बराबर रहेगी पहले तो अनंत सेना विशाल सेना थी बहुत थोड़ी सेना उसके रहेगी और राम भी कमजोर पड़ गया है थक आया है तो। अब वो ये अब सातवें दिन का युद्ध प्रारंभ होता है ये अंतिम युद्ध दिन का युद्ध है सातवें दिन रावण मारा जाता है मरने का दिन आज रावण का है तब कहते हैं कि सुन आगमन दशानन की रहा और जहाँ ये मालूम हुआ कि युद्ध क्षेत्र में रावण तरफ आ गया रावण आ गया है तो बांधवों को पता चला इसको बांधवों को पता चला तो उनको क्या हुआ वो समझ आए कि रावण तो मर गया वो बेहोश हो गया खा करके ले गए आज रात को मर जाएगा वो बचेगा नहीं लेकिन सवेरे पता लगा नहीं नहीं वो तो जिंदा है रथ के ऊपर चढ़ करके आ गया तो करने के लिए हाँ? तब बांधव क्या लगा काफी दल खरभर भय घनेरा कभी दल में खरभरी मच गई रावण तो मर ही नहीं उधर आ गया तो करने तो जब देखा कि साधारण मानव जो खरभर पड़ गए आश्चर्य में पड़ गए तो फिर जहाँ कहा भूधर बिटको पारी भाई मरकट भट मत भारी तो फिर जो भट भारी भट जो थे बड़े योद्धा जो थे उन्होंने देखा कि छोटे बानर जो हैं कमजोर बानर ये डर रहे हैं और देखते हैं कि रावण शत्रु युद्ध करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है तो वे जो भारी भट थे वो आगे चले उन्होंने पर्वत उठाए उन्होंने फिर पेड़ तोड़े और सब ले लेकर के रामा की तरफ उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए चल दिया तब बाकी पीछे वाले जो और उनके सैनिक जो थे साधारण बानर वो भी सब उनके पीछे हो लिए और रावण के साथ जाकर के इनका आक्रमण हुआ तो ये बानरों का फिर से आक्रमण रावण के ऊपर होता है और ये बहुत जोर से आक्रमण कर देते हैं रावण के ऊपर सवेरे ही सवेरे जो है उसके ऊपर इतनी जोर का आक्रमण होता है कि रावण बिहार हो जाता है भाई जो मरकट विकट भालू करा कर भूधर धरा कहते हैं मरकट जो है वो मरकट बानर इस समय बानर जो है मरकट है मरकट का प्रचंड भाव और भालू भी बड़े करार हैं <clears throat> बानर तो मरकट है ही और भालू जो है वो भी बड़े करार मैंने बड़े भयंकर रूप धारण कर करके और बड़ी शक्ति लगा लगा करके ये सब दौड़ रहे हैं <clears throat> और कर भूधर धरा पाप पर्वत से पर्वत लेकर के दौड़ रहे हैं मैंने एक आध पत्थर का टुकड़ा उकड़ा छोटा मोटा नहीं पूरा का पूरा पहाड़ उठा ले लेकर के दौड़ते हैं रावण को मारने के लिए अति कोप करें प्रहार और तो बड़े गुस्से में आकर के रावण के ऊपर वो पत्थर पहाड़ जो उसके ऊपर फेंक देते हैं मार देते हैं उसको प्रहार मारक भरी चले रजनी करा और जहाँ इस प्रकार के आक्रमण हुआ तहाँ रावण तो नहीं भागा लेकिन रावण के जितने साथी थे सैनिक निशाकर वे सब देखे बड़ा भयंकर आक्रमण तो वो सब भाग कर यानी असल में निशाचर है थोड़े और बानर ज्यादा मरे नहीं वो बहुत संख्या में अभी है तो वो सबके सब जब आक्रमण दिखे तो निशाचर लोगों ने इतने ज्यादा बानर और भालू सेना को देख करके और उनके इस प्रकार पत्थरों के आक्रमण और पेड़ों का आक्रमण देख करके वे सब निशाचर लोग तो भाग चले तो बिचला दल बलवंत कीसन घेर पुन रावण लियो कीसन किस मानर तो बानरों ने बिछलाई दल रावण की सेना को इस प्रकार विचलित कर मैंने मतलब भगा दिया और फिर अब रावण रह गया तब सब इन्होंने भालुओं ने और सब बानरों ने मिलकर के घेर सुन रावण लियो अब रावण को चारों तरफ से घेर दिया और रावण के ऊपर सबने आक्रमण किया चौंधे से चपेट मारी नखन विदार तन व्याकुल जो पत्थर लाए तो वही फेंकते तो बानर पास हाथ में कुछ था नहीं अब बानर खाली हाथ रावण के ऊपर आक्रमण कर दिए तो उनके पास नाखून थे दांत थे तो रावण के चारों तरफ से वो हो नोचने लगे नाखूनों से और दांतों से बांध रावण को काटने लगे सब बांदर की मानस चारों तरफ से घेर लिए रावण अब रावण को व्याकुल कर दिए कहते विदार तन व्याकुल सर्व शरीर उसका सब विधिगण कर दिया छिन्न भिन्न कर दिया सब खाल नोच डाली और रावण व्याकुल उठा ये रावण क्या बताए देखो ये पहला आक्रमण बानरों का इस प्रकार हुआ और सवेरे सवेरे रावण ने इस प्रकार से मार अब रावण में ज्यादा उत्साह नहीं है अब देखते हैं कि वो युद्ध करता भी है आज के दिन बस लेकर ऐसा ही बस मरने भर को युद्ध करता है कि युद्ध करते करते युद्ध क्षेत्र में मर जाए बाबू और ज्यादा उसका नहीं चलता थोड़ी माया वाया भी करता है आगे देखो कहते हैं कि देख महामर प्रबल रावण की विचार रावण देखा कि ये मरकट तो बड़े प्रबल हैं ये बानर बहुत शक्तिशाली हैं इनसे ऐसे लड़ लड़ करके इनसे पार नहीं पाया जा सकता है इसलिए क्या करना चाहिए अंतरहित हुई निमिष हो तो उसने विचार किया कि थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हो जाए छिप गया और सोचा कि छिपने के बाद अब क्या करें कि कृत माया विस्तार और इसके बाद फिर माया रचे तो रावण देखो ये माया तीसरी बार माया रच रहा है पहले दिन उसने माया रची तब अनेक राम लक्ष्मण बन गया दूसरी बार दूसरे दिन माया रची तो अनेक रावण बन गया हम्म? तो वो नई नई माया रचता है वो पुरानी वाली माया नहीं चलती वो जानता है एक बार माया चली चलाई द्वारा नहीं चलती काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती माया का मैंने काट की हानि झूठ मूठ की बात है हरेर की बात है दंड फंद की बात है बार बार नहीं चलती एक बार चला लो जहाँ पता लग गई खुल गई बात पर दूसरी बार नहीं चलती रावण ने भी इस प्रकार से एक बार जो है राम लक्ष्मण का रूप बना लिया तो जान गए सब बात में सब महाराज कह रहे ये रावण ऐसे बना देता है अगर राम लक्ष्मण का रूप बना में तो सब जान जाए मारा रही सब कुछ नहीं तो रावण की लीला है रावण भी एक से अनेक रूप धारण उसने कर लिए तो वो भी जान गए सब मान लो कि ये तो माया थी रावण की तो रावण इतने अनेक कहाँ से हो सकते हैं तो रावण अब जान गए रावण भी अनेक होने से काम नहीं करता तो अब रावण जो है लीला रखे अपनी तो क्या रखे नई माया रखता है वो तो नई माया क्या उसकी यही है जब तीन चय पाखंड भय प्रगट जंतु प्रचंड बैताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज जोगिनी गहे करवाल एक हाथ मनुज कपाल करी सद्य सोनित पान नाच करही बहुगान धर्म हरि घोर रही पूर धुन चोर मुख बाई धावही खान तब लगे कि इस जहाँ जहाँ ही मरकट भागे तहाँ बरत देख आगे भय विकल बानर भालो पुनिलाग बरस बालू जहाँ तहाँ थकित कर कीस गर्जहु बहुर दस शीस लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत राम हार रघुनाथ कई बटमी जई हाथ यही विधि सकल बल तोरी कीन कपट बहोरी प्रगट से विपुल हनुमान आए गए पाखान दिन राम घेरे जाए क्यों जिस बरूथ बनाई मारहु धरहु जन जाए कट पूछ उठाए दिस लंगूर विराज मध्य कौशल राज श्री मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभालई जनेन्द्र धनुष अनेक की पारि तुंग तमालही प्रभु देख हर्ष विषाद उर सुर बदत जय जय जय करी रघुवीर है कहीं तीर को पिन में समू माया हरी माया विगत कपि भालु हर से बिकप गिरी गई सब फिरे करण कर छाने राम रामण बाहु सिर पुन मई गिरे रामन समर चरित अनेक कल्प जुगावई सतशेष सारद निगम कवि त्यू तदपि पार न ताके गुण जन कछु कहे जलमति तुलसीदास जिमिन विपलयन रूपते माथि उड़ई आकाश काटे सिर भुज बार बहु मरतन बटलन प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देती कले सिया अब रावण ने क्या माया रखी क्योंकि जब तीन सही पाखंड पाखंड मन माया मैंने कल देख रहे थे वहाँ पाखंड सब तो सीधा माया के लिए प्रयोग करते हैं मैंने पाखंड तो सब जानते हैं कि दुनिया में पाखंड करते हैं और माया नहीं समझ में आती लोगों क्या आज पाखंड ही माया है सीधा के साथ जो दंड समथल सब में त्याग है ये सब जो लोग करते हैं सब माए हम्म, तो कहते हैं ये सब ये रावण ने माया फैलाई और भय प्रकट जंतु प्रचंड और उसने माया फैलाई तो प्रचंड जंतु भयंकर जंतु पैदा हो गए कैसे भयंकर जंतु पैदा हो गए कैसे दैताल भूत पिशाच ये तमाम दिखाई देंगे बैताल ये सब जो वो ये प्रेतात्माएं सब बिना शरीर वाली जो थी वो सब शरीर धारण किए हुए थी सामने दिखाई देने लगी बेटाल दिखाई भूत पिशाच दिखाई देने लगे और ये कैसे दिखाई देने लगे कह भरे धनु नाराज ऐसा लगता है ये भी सब रावण की सेना में ये सब जो है वो एक तो फ्रंट लाइन होती है और दूसरी रिजर्व फोर्स होती है ये रावण की रिजर्व फोर्स है माने जब माया हो अज्ञान हो अविद्या हो सदा आदमी को यही सब भूत प्रेत ही उसके जो है वो उनकी शरण लेता है और उनकी सहायता लेता है उनकी पूजा करता है ये कहते कर धरे धनु नाराज वो सब ये सब जितने ये भूत पेट है ये क्या है धनुष और नाराज में बाण धनुष बाण धारण किए हुए सब भूत पिछाचा है जो वास्तव शस्त्र दिए हुए सब बात है और जोगिन गहे करबाल जोगिन भी पहले बता चुके हैं जोगिन चंडिकाएं इत्यादि इस प्रकार की जो निशाचरी है वो वो जो भूत प्रेतनी है वे सब जो है करवाल लिए करवाल में करवाल लिए हुए एक हाथ मन की कपाल और एक हाथ में मनुष्य की खोपड़ी कपाल दिए हुए हैं जिसमें की रक्त पीती है वो इसलिए रक्त भरे हुए कपाल में मैंने भयंकर रूप उनका एक प्रकार खोपड़ी हाथ में पकड़े होना उसमें कपाल में और फिर हाथ में तलवार लिए होना और उनके सबकी जीव निकाले होना और बाल फटकाए होना ये सब इस प्रकार से लाल लाल आंखें दिखाई दे जीव निकाले हो भयंकर रूप इस प्रकार का धारण किए हुए ये सब तमाम योगनी तमाम निशाचर भूत प्रेत ये साफ दिखाई देने लगे उनके कारण जोगिन कहे करबाल ऐसा भी लगता है कह सकते हैं करवाल बन गए तलवार है करबाल को मैंने कर में हाथ में बाल मैंने बाल पकड़े हुए किसी के खोपड़ी के बाल पकड़े हुए हैं ऐसे भी देखे हो कहीं कोई चित्र काली देवी का है एक हाथ में जो है बाल पकड़े हुए भी है तो ऐसा भी कह लो जोगिन गहे कर पाप कर को अलग कर दो बाल को अलग कर दो हाँ। इस प्रकार से देखते हैं कि ये सब साक्षर भूत प्रेत जो है नाना रूप धारण किए हुए भयंकर रूप धारण किए कर शब्द सोने तो पान शब्द के मैंने ताजा ताजा सोने तो मैंने खून ताजा खून पी रहे कर शब्द सोने तो पान ये सब अभी <clears throat> सब जब ये निशाचर भालू इत्यादि जिनको भी मरते हैं घायल होते हैं तो उनका खून ले लेकर के ये सब निशाचर भूत प्रेत पी रहे हैं इसलिए कहा कि मनुष्य कपाल अब इनके पास पात्र क्या है आदमियों की खोपड़िया जो है वही उनके कपाल जो है वही हाथ में लिए उन्हीं में ही खून पी रहे नाचे करें करेंगे बहुगान अब वैसे थोड़ा गंभीरता का विचार करेंगे तो देखेंगे कि ये ये सब जो है मनुष्य की खोपड़िया बारहों की खोपड़िया नहीं है की खोपड़िया नहीं है ये मनुष्यों की खोपड़िया है और ये जितने भूत प्रेत इत्यादि है मनुष्य की खोपड़ी खाते हैं ये सब जो है वो सत्य जो है सिर खाते रहते हैं हम्म? उन्हीं का खून पीते रहते हैं नहीं खून पीते हैं <laughs> ये सब इस प्रकार करते हैं नाचे ही करें बहुगान धर्मार बोले फोर अब ये सब चिल्लाते हैं पकड़ो पकड़ो धर्मन पकड़ो मारो न मारो पकड़ो पकड़ो मारो मारो इस प्रकार शोर भी करते हैं तो भयंकर शोर भी हो रहा है सूरत भी इनकी भयंकर काम भी इनके भयंकर खून रस इत्यादि और फिर इनका बोलना भी बड़ा भयंकर रही पूर्व धन चौहोर चार सब दिशाओं में इस प्रकार बड़ा शोर मचने लगा ये सब रावण की लीला है उसने सब करके दिखा दिया माया <clears throat> मुख बाई धावे खान वे सब मुंह बाबा करके खाने के लिए दौड़ते हैं डरवाते हैं माने सब इनको तब लगे कि सपरान जब बानरों ने देखा ऐसा भयंकर आई थी बड़ी भारी सेना जी सेना फौज जी फौज भूत प्रेतों की चली आ रही है तरह तरह के रूप उनके बनाए हुए हैं तरह तरह के उनका बेस विकराल बेस बनाए हुए हैं और चिल्लाते चले आ रहे हैं हर तरह लिए हैं तो वानर लोगों ने देखा तो सबसे माना और भाग खड़े हुए उन्हें क्या पता ये सब रावण की लीला जैसे कि टीवी के ऊपर तस्वीर दिखाई दे रही हो हाँ? टीवी की पिक्चर को देख करके कुछ डर जाए हाँ? एक सिंह आ जाए उसके भीतर टीवी की पिक्चर भागता हुआ सामने चला आ रहे तो बच्चे भाग खड़े हो कहा शेर आ गया शेर आ गया तो वो तो शेर थोड़े आ गया वो तो टीवी का तो शेर माया है ऐसे करके रावण ने जो इस प्रकार सबको चलाया वो सब इसी प्रकार की माया है दिखने में तो सब दिखाई देती है वहां कुछ नहीं हम्म? इस प्रकार की आते तब लगे कि उनको सत्य समझ करके बानर भागने लगे और जहाँ जहाँ मर कट भाग बानर जहाँ भी भाग करके जाते हैं वहाँ भरत देख आग रावण वहां भी नहीं छोड़ता अगर मानव बानर भाग करके पीछे की तरफ भागे तो उन्होंने वहां क्या देखा वहां तो आग जल रही सामने आग जलती देखे तो आग में थोड़े घुस जाएंगे वहां से फिर भागे दूसरी तरफ तो कभी इधर भागते हैं कभी इधर भागते हैं जहाँ भागते हैं कहीं उनके लिए भय दिखाई देता है भय विकल बानर भालू अब तो बानर भार बहुत व्याकुल हो गए पूरी लाग बरस बालू अब उधर उधर भागते हैं तब तक देखते हैं बालू की वर्षा हो रही बालू वर्षा होती आंखों में